कमर में दर्द नहीं होता ये तो सब अलग अलग है जो खूब विचार पूर्वक देखेंगे तब आपके शरीर में ये जो दर्द आता है बता देंगे कि ये शरीर माटी का ढेला है क्यों एक शरीर में दर्द होता है और एक शरीर में नहीं होता जो आजकल ऑपरेशन होता है सुई लगा देते हैं टीका लगा देते हैं तो उससे दर्द नहीं होता है ऑपरेशन हो जाता है शरीर काट देते हैं शरीर को निकाल के अलग रख देते हैं और फिर बड़ी सावधानी से उनको जगह जगह बैठा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसा न हो सकता है शरीर अलग अलग है ये बात तो प्रत्यक्ष हो चुकी है और इसका दर्द अलग अलग देखा जा चुका है वो चेतना को शरीर में से अलग निकालने का प्रयास करना चाहिए रात के समय अलग बैठना खाट अलग और आप अलग आपके बैठने का तख्ता अलग और छत अच्छा अलग आप शरीर को हड्डी के ढेर की तरफ बैठे रहने दीजिए एक जगह और आप स्वयं उससे अलग होकर भगवान का भजन कीजिए देखिए थोड़े दिनों के अभ्यास से आप शरीर से अलग हो जाएंगे आप अपने आसन पर धरती पर बैठिए और ध्यान कीजिए कि मैं धरती पर से उठ गया छत से लगा बैठा हूँ और जब आप वर्षों तक ये अभ्यास करेंगे कि मैं धरती पर नहीं हूँ छत से लगा बैठा हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ आप छत पर बैठे हुए हैं आप लेट जाइए चारपाई पर मौन से लेकर तलवे से लेकर कमर तक माटी माटी है और कमर से लेकर मुझसे पर्यंत पानी पानी है वहां से लेकर नाभि पर्यंत आ रहा है और नाभि से लेकर हृदय पर्यंत वायु वायु है और हृदय से लेकर कंठ पर्यंत वायु वायु है और कंठ से लेकर ऊपर आकाश आकाश और आकार आकाश के बीच परमात्मा के साथ लगे हुए हैं तो मिट्टी वाला हिस्सा गया नीचे और मुख्यन्द्रीय वाला हिस्सा गया नीचे और खुशी हो कहाँ खुशी हो मैं सो जाइए आराम से पगन पर अगर नींद ना आती हो क्योंकि नींद आती हो तो खुली आंख है born of जीव ये सब ज्ञान वाले हिस्से हैं तो आप अपने को मिट्टी वाले हिस्से से हटाकर ज्ञान वाले हिस्से में स्थिर कीजिए थोड़े दिनों तक की अभ्यास आप करेंगे तो ये अभ्यास आपको हो जाएगा कि आप शरीर में नहीं है शरीर के ऊपरी हिस्से में अंधकार में ज्ञान स्वरूप में जहाँ प्रपंच नहीं दिख केवल केवल प्रपंचा भाव ज्ञान स्वरूप प्रभु का दर्शन होता है और ये कोई एक दिन दो दिन में नहीं होगा इसके लिए गुरु वर्षों तक का अभ्यास करना पड़ेगा परमात्मा माने एक दिन दो दिन नहीं होता है परमात्मा माने सारे जीवन का अर्पण होता है गुदा पर्यंत पृथ्वी और मित्रेंगे पर्यंत जल और नाभि पर्यंत अग्नि और हृदय पर्यंत वायु और कंठ पर्यंत आकाश और हृदय पर्यंत वायु to put on cross, to put it on कंठ से लेकर के ऊपरी जो है वो ज्ञान है कान ज्ञान है नाक ज्ञान है जीव ज्ञान है ये सब ज्ञान वाले हिस्से तो आप अपने को ज्ञान वाले हिस्से में मत हुए ज्ञान वाले हिस्से में बैठा हुए तो धीरे धीरे ये ज्ञान का जो अज्ञान का जो हिस्सा है वो छूट जाएगा और ज्ञान का हिस्सा बैठ जाएगा आप ऐसा कीजिए कि देखने के बाद आपके शरीर में गुदा पर्यंत मुक्ति और मुक्ति पर्यंत जल और नाभि पर्यंत और हृदय पर्यंत आकाश पर्यन वायु और हृदय पर्यन और उसके बाद आकाश पर्यन और उसके बाद आगे अग्नि पर्यन वायु पर्यन उसके ऊपर वायु उसके ऊपर आकाश पर्यन फिर ज्ञान स्वरूप होकर के आप ध्यान कीजिए प्रपंच का ध्यान छूट जाएगा और धीरे धीरे भगवान का ध्यान आने लगेगा ये जो भगवान का ध्यान रखना है ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है इसके लिए महात्मा होने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है परमात्मा होना तो बहुत आसान है परमात्मा तो को किसी वेदांत से किसी वेदांति से तीन दिन पहले मैं शुद्ध हुई थी ब्रह्म हूँ तीन दिनों ने उतरे को ब्रह्म मान लिया लेकिन किसी अभ्यास के द्वारा अपने को पंचकोष से एक करना और फिर उसके ऊपर जाना शुरू से करना ये तो बड़ा कठिन है है कि एक दिन गोरखनाथ जी महाराज गुरु दत्तात्रेय से गुरु दत्तात्रेय जी ने पूछा कि प्रभु गोरख तुम्हें क्या सीखते गोरख ने कहा कि महाराज ने मुझे सीखी नहीं молитвы и пальмарные, душевные победы. Отца, जो तलवार मारे पूरा अपने शरीर तलवार उठाई और बच्चा फिर हुए इनके शरीर को मारे बच्चा कोई भी का शरीर नहीं पता जो करता Başladı Fırtat öldü. Burak Ardın Kuşak Miktar Sıddığı olarak Budur Tumari Düz Sıddığı ve Akasti Sıddığı oluyor Mari Düz Sıddığı Tumari Düz Sıddığı Mutluluklu Sıddığı और हमारी जो स्थिति है ये आकाश की स्थिति है आकाश तलवार से नहीं करता है और पृथ्वी जो है वो तलवार से कट जाती है इसलिए साधारण असाधारण पूरी सिद्धि चमत्कार देखना देखना है

संतोष मनुष्य का लोप हो जाता है आत्मा से संतोष मनुष्य का शरीर गर्म हो जाता है सचमुच मनुष्य का शरीर पानी में मिल जाता है धरती से एक हो जाता है ये

निषेध कर देने पर जो शेष रहेगा वो अनाम और वो भगवान तो कौन रहेगा फिर गंभीरता से विचार नहीं आसमान के ऊपर सातवें आसमान में कोई चीज होगी जिसमें नाम रूप गुण नहीं बोला तो उसको कैसे देख पाएंगे या सबका सबका निषेध कर देने पर उसका दर्शन कैसे हुआ नाम रूप गुण धर्म सबका निषेध कर देने पर रहेगा अपना अपल जिसने निषेध किया वही रहेगा इस बात को गंभीरता से समझने चाहिए और बिना इसके वेदांत समझ में आने चाहिए सबको मना कर दिया तो मना करने वाला नहीं रहेगा सबका निषेध कर दिया तो निषेध करने वाला रहेगा इसलिए जब नाम रूप गुण निषेध कर दिया तो रहा कौन रहा निषेध करने वाला है और उसका निषेध नहीं हो सकता है जो सबका निषेध कर सकता है वो स्वयं अपना निषेध नहीं कर सकता यदि वो कहे कि मैं नहीं हूं तो ये बात तो बोल ही नहीं जा सकती संस्कृत में एक कहावत है मम मुखे जिह्वा नाचती एक आदमी बोल रहा था मेरे मुंह में जीव नहीं है जीव न होती तो बोलता कैसे तो यदि एक आदमी कह रहा है कि वो ऐसी चीज है जिसमें नाम रूप गुण कुछ नहीं है तो वो कहने वाला कौन है वो जो कहने वाला है वही नाम रूप गुण से रही माने अपना आप ही है उसको अपने आत्मा के रूप में ही पहचाना जा सकता है इसका मतलब यह है जैसी जागृत में ही सुषुप्त अवस्था का चिंतन कैसे किया जाता है क्योंकि सुषुप्ति में तो सब अज्ञान में लीन हो जाता है और जागृत में तो ज्ञान रहता है और इस प्रकार के चिंतन से जीवन में कुछ प्रयोजन सिद्ध भी होता है सुषुप्ति का चिंतन करना माने जैसे सुषुप्ति काल में स्वप्न नहीं सुसुप्ति में कोई नाम रूप गुण संबंध जात पात नहीं रहती है ठीक इसी तरह की स्थिति हम जागृत अवस्था में अपने मन की बनाए हैं है ही नहीं न गुण है न नाम है न रूप है सबका निषेध हो गया निषेध होने पर क्या रहेगा तो तुम तो रहते हो ना तो सुसुप्ति में और कुछ नहीं रहता लेकिन तुम रहते हो और फिर तुम्हारी नींद टूटती है तो फिर क्यों क्यों वही सब लिए हुए बैठे जाते हो नाम रूप गुण इनका निषेध कर देने पर ही जो बाकी रहेगा सबका सबका निषेध करने पर बाकी रहेगा अपना ऐसे देखो आप समझदार आपकी विद्या बुद्धि कम समझते हैं आप उत्तर चले जा रहे हैं हिमालय की तरफ आकाश तो कहीं कहीं आकाश का अंत आपको मिलेगा नहीं मिलेगा तो।, तो दक्षिण चले जाओ तो, तो, तो मिलेगा दक्षिण ऊपर नीचे जी सब बाहर भीतर भी अगर चलोगे अंतर्मुख भी होगे तो परिसमाप्ति अपने आप में ही होगी अंत में अपना आप ही रहेगा सबसे भीतर सबसे भीतर सबसे भीतर अपना आप ही रहेगा इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर कहीं जाने की जरूरत नहीं है लौट आने की जरूरत है माने जहाँ आपका मैं है वहाँ ईश्वर है वही चिंतन है ईश्वर को भी वही जानता है उस अंतर्मुख उत्तर से अंतर्मुख हो जाओ दक्षिण से हो जाओ पूरब से पश्चिम से ऊपर से नीचे से बाहर से भीतर से लौट के वहां आ जाओ जहां तुम हो और वहां आने पर जब कुछ दूसरा रहेगा ही नहीं न पूरब न पश्चिम न दक्षिण तो सिवाय आपके और कोई नहीं रहेगा तो उसी को अद्वितीय ब्रह्म करेंगे तो हरी सभा में बैठ के एक दिन पूछ लेने से उसका पता नहीं रहा है इसके लिए सदगुरु का आश्रय लेकर महीनों तक विचार करना पड़ता है और जब तक अपनी ओर नहीं लौटोगे अपने से बाहर जाकर ईश्वर को ढूंढोगे तो आधे तो मारे ईश्वर ईश्वर बेकार हो जाएगा ईश्वर पूर्ण तभी होगा द्वितीय तभी होगा जब तुम बाहर की सब वस्तुओं की ओर से लौट के अपने आत्मा में आ जाओगे और अपने आत्मा में आने का अर्थ नहीं करेजी में आ जाना अपने आत्मा में आ जाने का अर्थ है कि अपने मैं के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है इस प्रकार के चिंतन से जीवन में क्या प्रयोजन सिद्ध होता है यही तो सबसे बड़ा प्रयोजन है और यही जब तक समय में नहीं आवेगा तब तक इसमें प्रवृत्ति भी नहीं होगी दुनिया में देखो लोग दुखी क्यों कोई राग से दुखती है फंस गया मोहब्बत की गया कोई नफरत में फंस गया द्वेष हो गया किसी को मोह हो गया कोई स्त्री में फंसा कोई पुत्र में फंसा कोई धन में फंसा कहीं न कहीं फंस गया है और इसी फसाव के कारण सारे दुख हो रहे यदि फसाव न हो तो कोई दुख न हो तो अब आप देखो कि आपके दुख का कारण क्या है दुख का कारण है कहीं न कहीं मुग्ध हो जाना मोहित हो जाना मजबूर हो जाना किसी में डूब जाना कि बस इसके बिना तो हम कुछ हो ही नहीं सकते हम कुछ रह ही नहीं तो अपने से अलावा दूसरी चीज के बिना जब आप नहीं रह सकते तो आप सुखी भी नहीं रहे कुल का सार ये है कि आपका जीवन ऐसा हो कि आप अपने सिवाय किसी को भी किसी चीज को भी किसी आदमी को किसी व्यक्ति को किसी देवता को किसी दानी को अपने सुख के लिए न चाहते माने और ऐसा तभी होगा जब आप अपने को अद्वितीय रूप में जानेंगे कि मेरे सिवाय और कुछ नहीं तो सारे दुखों का जड़ है त्वरित से वेद से मोह और द्वैत के रहते उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए द्वैत की निवृत्ति के लिए इस विचार की आवश्यकता इस प्रयोजन की आवश्यकता क्या आप चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें सब समय सुखी रहें सब जगह सुखी रहें सब में सबके साथ सब अवस्था में सुखी रहे क्या आप चाहते हैं यदि ऐसा अनंत सुख अपार सुख अद्वितीय सुख आप चाहते हैं तो इसके लिए इसके लिए आइए विचार कीजिए कि और देखिए इसका प्रयोजन तुरंत तुरंत सिद्ध मोह कैसा होता है एक सज्जन बीकानेर से यहाँ पैदल चल के वृंदावन भोजन महाराज में बड़ा मुश्किल है क्यों दुखी हो तो हमारी स्त्री व्यभिचारिणी है हमारी पत्नी व्यभिचारिणी है इसलिए दुखी है मैंने कहा इसको छोड़ देंगे छोड़ू कैसे महाराज तीन तीन तो बच्चे उसको छोड़ दूंगा तो संभालेगा कौन दूसरी कोई आया ताया कोई रख लो नौकरानी रख लो वो संभाल लेगी बोले इतना पैसा कहाँ है हमारे पास महाराज फिर मैंने कहा कि अच्छा ऐसा करो तुम्हारे कुआं होगा जरूर राजस्थान में कुएं पर एक छप्पर डाल लो और वही और घर से रोटी जैसे मनखरानी बनाती है वैसे रोटी घर से मंगवा कर खा लिया करो उसके साथ संबंध मत रखो संबंध मत रखो उसके साथ हमारा ये तो हमसे बोल नहीं सकता हम संबंध रखे बना रहे नहीं सकते अब बताओ अब इससे बढ़ के सही भी नहीं मानते हैं झूठ भी मानते बेईमानी भी मानते हैं असल भी मानते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते इससे अधिक विवशता किसी का नाम दुख है वो विवशता का नाम ही दुख है इससे बड़ा दुख तो और कुछ हो तो नहीं सकता हमारे चाचा कोई बढ़िया दिखाई दे रहा है और बोले कि हमको देखते दिखाते जो तो मैं जो लेने के लिए हाथ उठा था तब तो उस हाथ को थोड़ा और ऊपर उठा दो उछल को उछलो उछलने पर थोड़ा और ऊपर उठा वो हमको उछलना सिखाना चाहते थे उनका मतलब ये था कि हम उछलना सीख जाए जब हाथ नहीं पहुंचता था हमारा इतना ज्यादा उठा देते कि वहाँ हमारा हाथ नहीं पहुंचता तो हम कहते कि जब हमको चलने हम नहीं जब हम कह देते कि हमको चाहिए ही नहीं है तो वो खुद ही लाके दे देते तो ये दुनिया की चीजों को जब तक आप चाहते रहोगे अपने से अलग समझते दूसरे को समझकर तब तक आपको दुख देती रहेंगे और जब इनके प्रति आपके मन में वैराग्य हो जाएगा तब अपने आप में ये छूट जाए लेकिन ये बात एकाएक वैराग्य होने से नहीं है क्या वैराग्य ऐसी है कि जब आप चाहें तब आपको वैराग्य हो जाए वैराग्य होने के लिए दीर्घकाल का तो चाहिए विचार और संसार से चाहिए और भगवान का चाहिए भजन पूरा आश्रय भगवान का चाहिए और परिक्रमा करते हुए चलो और परिक्रमा करते हुए नाचते हुए हो फिर यहाँ भगवान हर भगवान नाचते हुए परिक्रमा करते हुए चलो गाते हुए बोलो जय जय सीताराम हाँ जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम करके गाते हुए बोलो नाचते हुए चलो प्रेम करते हुए देखो जब अपने जीवन में ही सुख भर लोगे तब दूसरों की जरूरत नहीं रहेगी तब भगवान का भजन और वैराग्य और वैराग्य होने पर विचार ये तीनों बात जीवन में आ जाएगी ये बात भागवत के एक ही श्लोक में Gospel भगवत प्रबोधा ही अपने आप आती है इसलिए आप उत्तर को जी जो व्यवहार में सावधान है वह परमार्थ में सावधान रहेगा तो व्यवहार में कैसे सावधान रहे हमारे इस प्रश्न के उत्तर में आपने बताया भगवान का नाम लेते चलो तुम्हारा सिख किया भगवान का नाम लेने से व्यवहार सुधर जाएगा कृपया स्पष्ट करें इसमें ये स्पष्ट करना है कि हर समय भगवान का नाम लिया जाए यदि तो सावधान रहने से ही होगा जब सावधान रहोगे के हर समय भगवान का नाम दिया जाए और इसमें कोई कठिनाई नहीं है हावड़ा चलाना नहीं है आप हावड़ा चलाते समय नाम ले सकते हैं कलम से लिखते समय नाम ले सकते हैं रेलगाड़ी में मोटर में चलते समय बैलगाड़ी पर चलते समय हल जोड़ते समय नाम ले सकते हैं सबसे सहज सावधान रहने के लिए सबसे सरल और सुगम उपाय यही है कि भगवान का नाम लिए जाए भगवान का नाम लिए बिना सावधानी नहीं आवेगी पटांग इधर उधर की बात सोचेंगे और उसी में फंस जाएंगे कहीं फंसे हुए भी हो और सुखी भी हो ये नहीं होती हंसना किसी और चीज से और आदमी से हंस जाना और उसके साथ ये भी चाहना कि हम सुखी रहे तो ये दोनों काम नहीं हो सकते इसलिए जब तक फसाव नहीं छूटेगा तब तक सुखी नहीं तो सावधान सावधान का तो अर्थ ही है या जब लिखना शुरू कीजिए तो रजिस्टर पर एक कागज और साथ रखी और उस कागज पर पहले राम लिख के तब तारीख रजिस्टर पर लिखना शुरू कर दिया जब आपको पिशाब करने के लिए उठना हो तो पहले रजिस्टर पर राम लिख के तब जाइए और लौट के फिर लिखिए उसी तरह खाने में पीने में जहाँ तक हर ग्रास में एक नाम ले एक नाम राम राम काम में बाधा किसी काम में आपको बाधा नहीं पड़ती हाँ, खाते रहिए पीते रहिए चलते रहिए काम करते रहिए भावना चलाते रहिए रजिस्टर देखते रहिए भगवान का नाम देते रहिए एक बात जरूर है कि आप अगर लड़ाई करते रहना चाहेंगे किसी को गाली देना है और नाम ले और नाम लेना चाहेंगे तो नहीं इसका मतलब ये है कि राम नाम आप लेंगे तो आपका राजदेश द्वेष कम होगा राग छूटेगा और आप सुखी हो जाएंगे प्रश्न था यदि व्यवहार को ही सुधारण में लगे रहेंगे तो क्या परमार्थ का चिंतन छूट नहीं जाएगा कृपया इस संशय का भी निवारण ये देखिए ना हमने तो आपको ऐसा व्यवहार बताया जिसमें परमार्थ परमार्थ की भूल आप व्यवहार को तो समझिए पानी और उसमें राम नाम की जो जोड़ है शक्कर हाँ। सर्व आप भगवान का व्यवहार करते चलिए भगवान का नाम लेते चलिए वो तो आपके लिए व्यवहार को मधुर बनाने वाला मीठा हो गया कैसी आपको व्यवहार करने नाम लेने से कैसी कैसी बाधा पड़ती है आप लेटिए सांस लेते जाइए और भगवान का नाम लेते जाइए आप चलिए और पांव रखते जाइए और भगवान का नाम लेते जाइए मैंने बड़ी खाते की बात आपको सुनाई हर काम में आप भगवान का नाम ले सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है चलती उठते उठती जोवत बैठक पड़े उताने कहे कभी हम से सावधान तो रहिए प्रभात मत कीजिए सावधान रहिए परमार्थ और व्यवहार दोनों साथ साथ मिल सकते हैं एक बात और सुना रहे हैं पूजा का करते और गृहस्थ के लिए उपयोगी व्याख्या उसकी करते सकते अब बात हुई ये कुछ दिनों को जब जब मुसलमान आए और जब अंग्रेज आए जब मुसलमान फारसी आए तो वो धारा टूट गई और शास्त्रों की व्याख्या गृहस्थों के नहीं वाणियों के आधार में आ गई व्यापारी लोगों के आधार में उनकी से भजन नहीं होता है और केवल छोटी जटा और दादी रख लेने से भजन नहीं होता है और कोई गैस के माला नहीं होता संध्या बंधन पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है तो भगवान जिज्ञासा है कि स्त्री के लिए संध्या बंधन किया है कृपया बताने का अनुग्रह स्त्री संध्या बंधन के अंतर्गत जितनी क्रिया है आसन से बैठना प्राणायाम करना किंतु अर्जुन आपको इसका करना और जप करना सब काम संध्या बंधन के रूप में स्त्री कर सकती है केवल गायत्री के जप का निषेध है गायत्री का जप स्त्री न करे और बाकी संध्या का सब काम करे स्नान करे आसन बिछावे और भगवान अपने गुरुदेव का स्मरण करे और गुरुदेव का स्मरण करके मेरे को भगवान के नाम का जप करे हमारी दृष्टि में तो ये बात कहीं नहीं आई कि संध्या बंधन का निषेध है ये जरूर आई कि गायत्री का जप नहीं करना चाहिए तो इसमें भी जो लोग बात यदि कहें पहले जमाने में इस गायत्री जप का निषेध नहीं है पूरा करते तो नारीणाम मौंगी बंधन मिश्यते अध्यापन च वेदाना गायत्री वाचना सावित्री वाचनम तथा पहले जमाने में तो परंतु तो धर्म का प्रसंग आ बंद कर दिया गया और वो नियम बना रहे इसके लिए इस, इसके लिए और सब क्रिया जैसे आप लोगों में से कवितान के जानकार होंगे बात मालूम होगी कि सूत्रों के विवाह कराया जाए तो कैसे किया कराया जाए तो मंत्र भी बोलना पड़ता है